ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुरुन्द्रियाणि च ब्रह्मया छांदो का परिषद तृतीय अध्याय तक कुछ विचार हो गया आगे चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होना है तो पूर्व प्रसंग के साथ आगे वाले प्रसंग का क्या संबंध होगा टीकाकार कहते हैं आदित्य से सूत्रावच्छेद वेदत्वाद तद उपासनानंतरम सूत्रोपासना उपरिषद है अब यह सूत्रात्मा की हिरण्य गर्भ की उपासना होनी है हिरण्य गर्भ को अंतर्यामी भी कहते हैं सूत्रात्मा भी कहते हैं माने ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दो शक्ति से युक्त समूह समूह वस्तु है वो हमारे भीतर में दो शक्ति है प्राण आदि क्रिया शक्ति प्राण और कर्म इंद्रिया क्रिया शक्ति वाले और अंतकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये पंच ज्ञान इंद्रिया ज्ञान शक्ति वाले हैं दोनों की पूजा है वो समष्टि है वो तो वो क्रिया शक्ति को लेकर के सूत्रात्मक विशेष उस तरफ से लेकर के सूत्रात्मक बोल देते हैं हिरण्यगर को ज्ञान शक्ति के माध्यम से अंतर्यामी करते हैं अंतरिम योजना का उसी का नाम है सूत्र आदित्य से सूत्रावच्छे छत भेद आदित्य जो है ना पूर्व में इस प्रश्न के पूर्व में आदित्य की उपासना आदित्य प्रमित उपासिता ऐसा आया है उन्नीसवें खंड में तृतीय अध्याय तो सूत्र के ही एक अवय गुरु से वो कहा था उसके कार्य रूप में आदित्य की उपासना की गई थी सूत्र का ही एक खंड रूप में अवयव रूप में उपासना की गई थी इसलिए उसके उपासना के अनंतर अवयव उपासना के अनंतर जो अवयवी है सूत्रात्मा सूत्रोपासना उपदेश यहां वायु भाव संवर्ग करके सूत्रात्मा की वो करेंगे को भी उपदेश करेंगे तो हिरण्य गर्भ की उपासना है समष्टि वायु की उपासना ये स्थिति है ये दिखाना चाहेंगे आगे कहते हैं ननो अध्यात्म अधिदैवतम च वायु प्राणायो सूत्रात्म भूतयोर उपासना पूर्वाध्याय की व्याख्यातम कहते हैं अध्यात्म और अध्याय दो रूप से मनोब्रह्म उपासिता आकाशोब्रमित उपासिता ऐसा भी कहा गया था मैंने अष्टादश खंड में तृतीय अध्याय के अठारहवें खंड में कहा था द्वितीय के तृतीय मंत्र में कहा था मनोब्रह्म उपासिता आदित्य ब्रह्म आकाशो ब्रह्म उपासिता ऐसा था उसमें से प्राण और आदित्य को प्राण को तो मनोरूप ब्रह्म का एक चार पाद में से एक पाद बताया था चक्षु पाद चक्षुपाद पाद इत्यादि मन रूप ब्रह्म का कहा था और आकाश रूप ब्रह्म का कहा था वायु पाद ऐसा कहा था तो इसलिए दोनों का कथन तो ही यार ये यह कहना चाह रहे हैं मानो अध्यात्म अधिदैवतम जब वायु प्राण है अध्यात्म में वायु प्राण है और अधिदैवत में वायु है पूर्व में उपासना हो गई मनोब्रह्म उपासिता आकाश ब्रह्मता उनके चार पाद में से एक एक पाद में आ गए दोनों अधिदैवत तो में वायु आया हुआ है अध्यात्म में तो प्राण आया हुआ है उपासना हो गई अठारहवें खंड में उन्नीसवें खंड में नहीं अठारहवें खंड में है अष्टादश खंड सूत्रात्मक सूत्रात्म भूत दोनों सूत्रात्मा के स्वरूप है वो वायु और प्राण सूत्रात्मा के स्वरूप है सूत्रात्म भूत उपासना पूर्वाध्याय की व्याख्या ये दोनों की उपासना सूत्रात्म स्वरूप है दोनों पूर्वाध्याय की व्याख्या हो गई है पूर्वाध्याय भी व्याख्या हुई तथा तो कोत्र विशेष फिर पूर्वाध्याय की उपासना और इस आने वाली उपासना में विशेषता क्या है क्या विशेष है को अत्र हो यह तदुपासना पुनराध्य थे फिर यहाँ विशेष क्या है इस खंड में चतुर्थ अध्याय में आने आने के बाद वायु और प्राण के समूह को बताएंगे संवर्ग सूत्रात्मा तो यहाँ विशेष उपासना क्या है पहले तृतीय अध्याय में भी अठारहवें खंड में इसकी उपासना हो चुकी है अष्टादश खंड में अध्यात्म के प्राण की और अधिदेव में वायु की माने आकाश के चार पाद में से एक पाद वायु है और मन के चार पाद में से एक पाद प्राण है ध्यान है ऐसा पता है तो यहाँ विशेष क्या है फिर इसके लिए क्यों पुनर्पासना की जाती है आरंभ किया कहा तो वास्तव कहते हैं वायु प्राणयोर ब्रह्मणा पाद दृष्टि अत्यास पुरस्कार पर ब्रह्म के पाद रूप में पाद दृष्टि करने कहा था चार हिस्से में से एक हिस्सा करने को कहा था पाद दृष्टि से पूर्व में कहा था तृतीय अध्याय वायु प्राण हो वायु में अध्यात्म जो मनोप्रमित उपासित आया उसका एक पाद के रूप में कल्पना की थी चार पाद में से एक पाद कहा था और प्राण को आकाश आकाशो प्रमित उपासित में आकाश का एक पाद के रूप में कहा था आकाश का भी चार पाद कहा था तो उनमें से एक पाद के रूप में कहा था अग्निपाद वायुपाद हाँ, आदित्य पाद दिशा पाद ऐसा कहा था उन्होंने उसे वायु को एक पाद माना हुआ था आकाश पुत्र मगर का पाद दृष्टि से अध्यास माने अध्यास उपासना पूर्व ने किया आरोप किया परमाणु का अथ इदानी अब यहां चतुर्थ अध्याय में क्या कहना चाहते हैं अथ इदानी तय हो वही वायु और प्राण दोनों का माने अध्यात्म में प्राण कहते हैं और अहिदय में वायु कहते हैं वायु देवता ऐसी स्थिति है माने ये ये चलने वाली वायु नहीं देवता वायु क्योंकि हर वस्तु तीन रूप में है अध्यात्म अधिदैव अधिभूत अधिभूत वायु को नहीं लेना अधिदैव वायु को लेना है अथ इधान तय हो वायु प्राण जो वायु और प्राण दोनों का साक्षात ब्रह्मते उपासना वहां तो आरोप किया था पाद रूप से आरोप किया था पूर्ण यहां साक्षात उपासना करनी है ब्रह्म रूप से उपासनत्वाय उत्तरम आरभ्य करते इसलिए उत्तरखंड उत्तर अध्याय आरंभ किया जाता है फिर कहते चलो वायु और प्राण की उपासना होनी है संवर्ग विद्या होनी है यहाँ उसी की चर्चा कीजिए कहानी क्यों एक जान स्थिति नाम के राजा थे इत्यादि कहानी क्यों हाँ, कहानी क्यों कहते हैं सुखा अवरोधार्था आख्यायिका एक कहानी इसलिए है कहानी हो तो आराम से ज्ञान हो जाता है बिना कहानी का ज्ञान नहीं होता कहानी के रूप में होने से सुखपूर्वक ज्ञान होता है आराम से ज्ञान हो जाता है इसके लिए कहानी और दूसरी बात ये कहानी इसलिए भी है विद्यादान और विद्या ग्रहण में कुछ नियम होते हैं विद्या देना भी कहाँ देना वो भी एक नियम होता है विद्या लेने वाले को क्या क्या करना चाहिए उसका भी एक नियम होता है देने वाले को क्या नियम होगा लेने वाले को क्या नियम होगा उसको भी आप दिखाएंगे माने जान श्रुति और रय मुनि के संवाद में ये भी दिखेगा यहाँ रैक्य मुनि ऐसे विद्या नहीं देंगे उसको एकाएक नहीं देंगे और जान श्रुति भी एकाएक विद्या लेने वाले नहीं है विद्या दान के पात्र विद्या कहाँ देना चाहिए ये नियम भी दिखाना चाहेंगे राइको मुनि से सीखेंगे बात और विद्या कैसे लेनी चाहिए जान श्रुति से सीखेंगे ये भी यहां बतलाना इस अध्याय में विद्या दान ग्रहण विधि चार दो बातें हैं एक तो कहानी के रूप में इसलिए है <clears throat> सुख पूर्वक ज्ञान के लिए है कहानी अथवा विद्यादान और ग्रहण में या इस कहानी के माध्यम से पता लग जाएगा विद्यादान किसको करना चाहिए और विद्या कैसे लेनी चाहिए ये दो बातों को भी जानकारी होगी इसके लिए कहानी के रूप में है एक <clears throat> अच्छा और तीसरी बात यह है श्रद्धा अन्नदान अंधत्वादि नाम से विद्या प्राप्ति साधन तो प्रदर्शित आख्यायिकया कहते ये राजा की जो कहानी आएगी बहुत श्रद्धा देय ऐसा आएगा बड़े श्रद्धालु थे श्रद्धापूर्वक देते थे अश्रद्धा से नहीं देते थे हम्म। विद्या लेने के लिए श्रद्धालु होना चाहिए एक बात ये राजा की चर्चा इसे आएगी यहां जाम सूत्र आ जाती है श्रद्धा श्रद्धा और अन्नदान जगह जगह उन्होंने धर्मशाला खोला था क्षेत्र खोला था यह था आएगा अन्नदान करते थे अन्नदान और अनुधत्व नम्रता जब ऋषि के पास गए तो पहली बार में छह सौ गाय लेके गए दूसरी बार एक हजार गाय लेके गए ऐसी कहानी आएगी नम्रता नम्रता होनी चाहिए विद्या लेने के लिए एक कहना चाहते श्रद्धा अन्नदान अनुधत्वादी नाम चढ़ विद्या प्राप्ति साधन विद्या प्राप्ति के साधन है जिसके जीवन में ऐसा पहले से हो उसके ज्ञान प्राप्त होगा विद्या प्राप्ति होगी प्रदर्शक आख्या ये कहानी के द्वारा ये भी दिखाना चाहते हैं क्यों ज्ञान श्रुति राजा में ये चीजें पाई गई श्रद्धा दे जो बहुदाई इत्यादि हाँ, ऐसा आए, ऐसा आएगा तो ये श्रद्धा पूर्वक देते थे इत्यादि बात ऐसे पता लगता है कि विद्या ग्रहण के लिए एक कारण बनते हैं श्रद्धा होनी चाहिए और अन्नदान आदि जीवन में करना चाहिए कुछ देख होना चाहिए और नम्रता होनी चाहिए उद्दंडता नहीं होनी चाहिए ये कहानी का द्वारा ये सारी बातें सिद्ध हो जाएगी माने एक तो विद्या ग्रहण और विद्या दान देने में इस विधि दिखाना है किसके लिए तो <clears throat> पहले तो ये सुख के लिए कहानी है आराम से ज्ञान हो जाए दूसरी बात है विद्या किसको देना चाहिए कैसे लेना चाहिए इसको बताना भी कहानी का तात्पर्य है और तीसरा यह है कहानी के द्वारा ये सिद्ध करेंगे श्रद्धा अनुदान आदि विद्या ग्रहण के साधन है माने ज्ञान स्मृति आदि में सब बातें दिखाई ये कहा दिया एक ठीक हमें कहते हैं साक्षात पादकलम पुनः इसी साक्षात शब्द दिया अथा इधान तय साक्षात आया पूर्व में तो उसके एक पाद के रूप में अंग के रूप में वायु और प्राण की उपासना हुई थी ब्रह्म की पाद माने अंग है किंतु अभी साक्षात उपासना में क्या मैंने पाद कल्पना बिना या पाद की कल्पना नहीं चार भाग की कल्पना नहीं करना ये इसके बिना ही उपासना करने के लिए यहां चतुर्थ अध्याय में आरंभ किया जाता है कोई संदर्भ विद्या को कहा जाते हैं ब्रह्मत्व ब्रह्मकारी रूपेण ब्रह्मत्व है साक्षात ब्रह्मत्व ब्रह्मत्वेन ब्रह्मकार्य रूपेण तो कार्य क्या करना ब्रह्म का कार्य क्या होगा कार्य ब्रह्म रूपेण काल मैंने कार्य ब्रह्म रूप से उपासना करनी है जो उपासना कारण ब्रह्म की नहीं होती है शुद्ध की होनी नहीं है कार्य ब्रह्म की होनी हिरण्य गर्भ की उपासना होती है ब्रह्म कार्य होने का उल्टा करना कार्य ब्रह्मत्व ना ऐसा अर्थ करना ब्रह्म का कार्य नहीं हाँ ब्रह्म का कार्य भी है मूल ब्रह्म का कार्य है वो केंद्र समझने के लिए कार्य ब्रह्मत्व है ना ऐसा अर्थ करना कार्य ब्रह्म रूप से उपासना करनी है हिरण्य गर्भ रूप से उपासना करनी है सूत्रात्मा वो हिरण्य गर्भ होता है ये कहा आगे विद्या आया विद्या दान ग्रहण विधि प्रदर्शनार्थ कहा कहानी किसके लिए सुखपूर्वक ज्ञान के लिए एक बात है दूसरा विद्यादान ग्रहण के निमित्त विधि प्रदर्शन के लिए कहा क्या है तो कहते देखो विद्या कहाँ देना चाहिए कहाँ नहीं देना चाहिए धर्मार्थ यत्र न श्याताम सुश्रुता बापी तद विधा न तत्र विद्या न तब न वक्तव्य शुभम बीजम ऊषण ऐसा है <clears throat> यहाँ धर्म नहीं है जिस व्यक्ति में अर्थ भी नहीं है धर्म भी नहीं अर्थ भी नहीं धर्मार्थ हो यत्र न श्यातम का तो स्मृति की बात है धर्म भी नहीं जहां पर और अर्थ भी नहीं सुश्रुषा बापिता विधा मैं हैं विद्या प्राप्ति के लिए गुरु का सेवा आदि भी नहीं है अथवा सुनने की इच्छा भी नहीं सुश्रुषा शब्द का दोनों अर्थ होता है सुनने की इच्छा अथवा गुरु की सेवा आदि भी नहीं है जहां तत्र विद्या न प्राप्त हो ये तीन बातें जिसमें न हो वहां विद्या का कथन नहीं करना चाहिए क्यों शोभम बीज इप ऊसरे जैसे अच्छा बीज है और ऊसर भूमि में डाल देने से व्यर्थ हो जाना है उसमें बीज अच्छा है विद्या मोक्ष देने वाली है शुभ बीज है किंतु गलत जगह में पड़ने से व्यर्थ हो जाएगा ऐसा कहीं स्मृति में आया हुआ विद्या देने के लिए ऐसा पात्र ऐसे व्यक्ति को विद्या नहीं देनी चाहिए माने जहां धर्म हो अर्थ हो और सेवा आदि हो वहीं पर विद्या देनी चाहिए ऐसा स्मृति की बात है यदि स्मृति अनुसंधाय ऐसे स्मृति को अनुसंधान करके अन्वेषण करके पुष्कल धर्म आदाय रई को राज्य विद्याम प्रदान कहते हैं पुष्कल बहुत धन दिया गया रई को मुनि ने छह सौ गाय ले गए तो नहीं दिया एक हजार गाय ले गए साथ में कन्या भी ले गए हाँ। और दो गाड़ी ले गए दो खचरी से जुता हुआ जोते हुए गाड़ी भी ले गए सारा सामान डाल के गए तब विद्या दिया है पुष्कल धन कहते हैं पुष्कर धनम आदाय प्रचुर धन लेकर के रई को रई को मुनि ने राज्य विद्या प्रादा राजा के लिए विद्या दी ऐसे नहीं दिया जान श्रुतिश्च और जान श्रुति ने क्या किया कहते हैं शास्त्रार्थम ज्ञातवा शास्त्र के अर्थ वो भी समझते थे कैसे जाना चाहिए गुरु के पास शास्त्र के विषय को जानते हैं जान श्रुति राजा शास्त्रार्थम ज्ञातवा पुष्कलम धनम दत्व बहुत धन दिया उन्होंने ये देकर ही श्रद्धादि संपन्न ततो विद्या मार्ग श्रद्धादि संपन्न होकर पुष्कल धन देकर उसके बाद विद्याम आदौ विद्या आदान की जान श्रुति राजा ने कहा तथा अन्यों की अन्य को भी यही करना चाहिए यहां कहानी का तात्पर्य तथा अन्यों भी विद्या या दाता ग्रहिता का चाहे विद्या का दाता हो चाहे ग्रहिता हो देने वाला हो या ग्रहण करने वाला हो ऐसा हो बात इति हाँ, ऐसे ही होना चाहिए जैसे जानसुखी राजा और रैको मुनि में हुआ है हाँ, विद्या के लेने वाले और देने वाले में ऐसे होना चाहिए दोनों में नियम है माने हाँ, विद्या देना भी ऐसे स्थान में ऐसे नहीं देना चाहिए और लेने के लिए भी एकाएक नहीं कुछ गुरु की सेवा करके ही लेनी चाहिए ऐसा अच्छा, तद दान ग्रहण और तद दान माने विद्यादान विद्यादान और ग्रहण के विधि माने विधान जो है उसका प्रदर्शन करने के लिए आख्यायिका इत्यादि तो उसके लिए कहा दिया गया विद्या कहाँ देनी चाहिए कैसे लेनी चाहिए ये दोनों ये कहानी के द्वारा हमें जानकारी मिल जाती है जान श्रुति राजा रे कुंड के संवाद से ये पूरी पूरी जानकारी मिल जाती है अन्य को भी ऐसे ही करना चाहिए इसका तात्पर्य है <coughs> तो धर्मार्थों यत्न श्याताओं सुश्रुदा बाधिका विधा तत्र विद्या न वक्तव्य शुभम बीजम सरे ऐसा स्मृति और भी स्मृति है <clears throat> स्मृति में और भी स्मृति आती है गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कल न है नवा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारण ऐसा भी कहा गुरु के सेवा से ही विद्या होती है गुरु से शुश्रूषया विद्या पुष्कल न है नवा उनके लिए प्राचुर धन दे उसके द्वारा विद्या ले अथवा विद्या विद्या अथवा एक विद्या को हम जानते हैं एक विद्या को जानते हैं अपनी विद्या उधर हैं उनकी विद्या अपने लिए चतुर्थम दैव कारण यहां मान विद्या प्राप्ति के लिए चतुर्थ कारण चौथा कारण नहीं ऐसा भी कहा है आगे शंका है सरसता सरसतानी गवाम इत्यादि दर्शनार्थ आगे द्वितीय खंड में आएगा ये इसी अध्याय में सरसदानी गवान इत्यादि छह सौ गाय लेके गए रघु के पास पहले पहले जो राजा गए तो सरसदानी गवान इत्यादि दर्शन धनदानम एवं विद्याग्रह साधन में धनदानी धनदान तो किया और क्या किया राजा ने तो विद्या ग्रहण के साधन धनदान है ये सिद्ध होता है इस कहानी से क्योंकि सरसदानी गवान जिसकोतरियम जिसको जिसकोतरियम रथा इत्यादि यही तो है तो इतने आया धनी तो ले गए और क्या ले गए तो उन्होंने सरसदानी गवाम जो मंत्र आएगा ये द्वितीय खंड में आएगा शुरू में आएगा द्वितीय खंड के सरसवानी गवाम इत्यादि दर्शनाथ धनदानम एक विद्याग्रह साधन एक है यहां पर ये सिद्ध तो प्रतीत होता है कि धन ध्यान ही विद्याग्रहण में साधन है न तो श्रद्धा की श्रद्धा की तो आवश्यकता नहीं है संघ आगे तो कहा श्रद्धा इत्यादि का श्रद्धा अन्नदान अनुतत्वादि नाम से विद्या प्राप्ति साधन तो प्रदर्शित है ये भी विद्या प्राप्ति के साधन है एक तो श्रद्धा श्रद्धालु राजा श्रद्धालु थे श्रद्धा देह ऐसे शब्द उनके विशेषण चढ़ा हुआ है पहले से ऐसे थे वो राजा विद्या ग्रहण के लिए तो बाद में गए पहले से और बहुदायी थे और बहुपाटी थे इत्यादि बहुत उनके विशेषण पहले से लगा हुआ है ऐसे राजा थे ये दिखाना चाहते हैं ये कहा एक आभाष में कहा श्रद्धा दान अनुधत्वादि नाम से विद्या प्राप्ति साधन तुम प्रदर्शित विद्या प्राप्ति का साधन दिखाया जाता है इसे कहा ठीक है कहते हैं आदि पदे न अनुधत्वादी नाम बोला वो खाली तीन ही नहीं श्रद्धा दान और अनुधत्व तीन ही नहीं और भी है आदि पदे न आदि पद से क्या लेना तात्पर्य आदय तत्परता भी होनी चाहिए तात्पर्य में मतलब तत्परता उसमें विद्या प्राप्ति के लिए तत्परता भी होनी चाहिए एक छटपटाहट जो बोलते हैं बेचैन उसके बिना बेचैन होना तत्परता तात्पर्य होगा और परिपात नम्रता भी चाहिए अनुधत्व आगे यहां भी आदि लगा दिया और भी बहुत साधन है विद्या प्राप्ति के ये सब होना चाहिए जीवन में पहले से तभी विद्या प्राप्ति होगी ये बात तदुह पुनरेव इत्यादि लक्षण है आख्यायिका क्या है वो फिर दोबारा आया वो राजा ये आएगा तदुह पुनरेव ये आया फिर आया वो राजा जब उन्होंने वापस कर दिया था छह सौ गाय को फिर एक हजार गाय कन्या साठ करके फिर आया तदुह पुनरेव ये आया वो राजा फिर आया वापस ऐसी कहानी आएगी <clears throat> इसी में द्वितीय खंड के तृतीय मंत्र आएगा तदुह पुनरेव पुनरेव आएगा इत्यादि यावत यह आख्यायिका एक है सारे कहानी यहाँ यह है कहा आगे मंत्र है <clears throat> ओम जान सुतिर पौत्रायण श्रद्धा देव बहुदायी बहुपाक्या सह सर्वता आवस्ता मापयान चक्रे सर्वत मे ओम जान पौत्रायण श्रद्धा देव बहुदायी बहुपाक्या सह सह सर्वता आवशथानुमापयान चक्रे सर्वत एवमे ओम अध्याय समाप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के लिए शुरू में मंगलाचरण के लिए ओम शब्द का प्रयोग है आगे बोलते हैं जान श्रुति हसिद्ध प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है सभी जानते हैं एक जान श्रुति नाम के राजा थे जनश्रुतो जनश्रुत से अपत्यम जानश्रुति जनश्रुत का संतान है वो किंतु वो जानश्रुति ऐसे है जनश्रुत राजा के पुत्र का पौत्र है वो पुत्र से पौत्र पौत्राय पुत्र के पौत्र को पौत्राय बोला जाएगा ऐसी स्थिति है पुत्र का जो पौत्र होगा पुत्र के तृतीय पुरी उसको पौत्राय बोला जाएगा वो जानश्रुति ऐसे है माने जनश्रुत राजा के पुत्र के नहीं है माने जनश्रुत राजा के जो पुत्र हैं उनके पोता प्रपोता है ऐसी स्थिति है हाँ पोता है ये राजा जन जानश्रुति राजा ऐसे है हाँ। पौत्राय उसको बोलते पुत्र से पौत्रो पौत्राय पुत्र शब्द से आय प्रत्यय करके पौत्र बनाया जाता है अंग्रेजी आमंत्रीय विदा दीपी आय आय प्रत्यय होगा पौत्र बनेगा फिर उसके बाद उसका भी पुत्र आएगा तो आने से क्या आएगा तो वहां पर एक प्रत्यय लग जाएगा कि गोत्रे पर चफने चफने प्रत्यय होकर पौत्रायण तो जानश्रुति नाम है जनश्रुत राजा के पुत्र का पौत्र है वो उनका जनश्रुत राजा के पुत्र भी है और जनश्रुत राजा के संतान है जनश्रुत राजा के पुत्र के पौत्र है वो जानश्रुति ऐसे है वो राजा श्रद्धा देय श्रद्धया देयम अश्य स श्रद्धा देय श्रद्धा पूर्वक देने के स्वभाव बन गया जो दान करते थे श्रद्धा से देते थे हाँ, तिरस्कार पूर्वक नहीं क्यों आया आया तो देना है ऐसा नहीं श्रद्धा दिए थे बहुबरी समास है श्रद्धया देयो यश्य श्रद्धा पूर्वक देय है जिसका बहुबरी समास है कुछ भी देना श्रद्धा से देते थे श्रद्धया श्रद्धा देय बहुदायी यहाँ निधि प्रत्यय लगा है बहुम धातुम शीलम अश्य की बहुत आई जैसे उसका भोजी होता है उससे बहुत आई ऋणी प्रत्यय मान बहुत देने का स्वभाव हो गया थोड़ा मानता ज्यादा देते थे ये राजा ऐसे थे पहले से ऐसे थे एक तो श्रद्धापूर्वक देने का स्वभाव देते हैं दूसरा बहु बहु बहु बहवा दातुम शीलम अश्य जैसे उष्णम भुक्तुम शीलम अश्य उष्ण भोजन उसी प्रकार है बहुत आई और बहुपाक्य आसन पज धातु से ढत प्रत्यय करेंगे तो पाक्य बन जाएगा पकाने योग्य को पाक्य बोलते हैं रिहल और ऋण हलंत तो धातु है सजो को गिरने तो लग जाएगा पाक्य बनेगा पकाने योग्य को पाक्य तो बहुत पकाने इस पकाने वाले वस्तु बहुत पकाते थे वो बहुत बहुत बहवा पाक्यो जैसे यहां भी बहुरी है बहुत पाक्य वस्तु है जिसके पास बहुत पकाने वाले थे बहुत पका के रखते थे देने के लिए ऐसे राजा थे तो यहां श्रद्धा देय बहुदायी बहुभाग्य तीन विशेषण राजा के हैं जान श्रुति पौत्रायण ऐसे हैं ये विशेषण है उनके आशा ऐसे एक राजा थे मभुआ ऐसे राजा हुए हाँ प्रसिद्ध हाँ, है हकार प्रसिद्ध सह वो राजा क्या किया सर्वता आवसथान मापयान चक्रे सर्वत्र धर्मशालाओं को बनाया आवसथा आवसंती अश्विन की आवश्यकता जिसमें आकर के लोग बैठते हैं आम पूर्वक बस धातु से अथ प्रत्यय करके आवश्यक बनाया गया ये द्वितीय का बहुवचन है आवश्यकान गर्भशालाएं जितने थी आवसंती अस्मिन इति आवश्यकता आ करके लोग बैठते हैं इसमें इसलिए आवश्यक आम पूर्वक बस धातु है अथ प्रत्यय हुआ है हाँ, उपसर्गे बसे ऐसा सूत्र है उपसर्ग उपद होने पर बस धातु से अथ प्रत्यय होता है सूत्र है उससे होता है आवसभान माने माप आवसभान मापयान चक्र मांग माने धातु है उसे ढीच हेतुमती जैसे ढीच कर दिया और फुक्का आगम आगमन करके मापी धातु बना करके लिट लगा में मापयान चक्र बनवाया बनाया बनाए नहीं बनवाए ये स्थिति है चारों दिशाओं में धर्मशालाओं को बनवाए बनाए नहीं बनवाए मंत्रिमंडल से बनवाए मापयान चक्रे रिजंत प्रयोग है सर्वतः अत्यंत थी सारे दिशाओं से आने वाले मेरे यहीं पर अन्न खाएंगे करके धर्मशाला बनाए मेरा ही अन्न खाएंगे उस धर्मशाला में रहेंगे और मेरे अन्न खाएंगे इस दृष्टि से धर्मशाला बनाए और यही दृष्टि था कि सभी ओर से आने चारों दिशाओं से आने वाली जो यात्रियां हैं सर्वतः आगत्य चारों दिशाओं से आकर के वे अन्नम अच्छा उनका यही था मेरे अन्न खाएंगे इसको लेकर बनाया भाष्य है आगे जानश्रुते जनश्रुत से अपत्यम जानश्रुत यही है जनश्रुत का संतान है वो तो जान माने अनंतरापत्य तो आ जाएगा वो अनंतरापत्य होगा जनश्रुत का अनंतरापत्य नहीं जनश्रुत के पुत्र का पौत्र है वो ऐसी क्यों अपत्य तो आ जाएगा जानश्रुति बनाएगा जनश्रुति शब्द से यह प्रत्येक जानश्रुति बनाएगा जान श्रुतिर माने जनश्रुत से अपत्यम जैसे दशरथ से अपत्यम दासरथी वैसे जनश्रुत से अपत्यम उनके पिताजी ऐसे थे हाँ। सारे जनों में श्रुत विख्यात थे जनश्रुत सारे जनों में विख्यात थे धर्मात्मा आ जाते उनके पिताजी जनश्रुत से अपत्यम जानश्रुति ये कहा और ऐतिहात माने प्रसिद्धि दिखाने का ऐसे घटना घटी कपोल कल्पित में मैं समझता हूं ऐसा हुआ है कहने के लिए ह शब्द है जान श्रुति है पुत्र से पौत्र पौत्रायण पुत्र के जो पौत्र को पौत्रायण बोलते हैं पुत्र के पुत्र को पौत्र बोलते हैं अंदरिशी आनंतरी विदादि को आय सूत्र लगाएंगे पुत्र शब्द से तो पौत्र बनेगा आय करके फिर एक चफाए प्रत्यय करके पौत्र आय बनाया जाएगा कुंजादिव्य चफाया सूत्र च है फेगा आय आदेश हो जाएगा नहीं कुंजादि कष्ट नड़ादी तो इसमें आएगा युवा में आएगा ये गोत्र में कुंजादिभ्य चप है गोत्रे कुंजादिभ्य चप है ऐसा सूत्र है गोत्रे कुंजादिभ्य चप है ऐसा सूत्र है तो पौत्र आएगा हो जाएगा आयन आदि यज्ञ वृद्धि होगी पौत्र आएगा बन पुत्र से पौत्र पौत्रायण पुत्र के जो पौत्र को पौत्रायण कहते हैं माने जानश्रुत के पुत्र के पौत्र हैं ये जानश्रुति ये सिद्ध होगा उनके पिता माने पिताजी जनश्रुत राजा है माने जनश्रुत इनके पिता के पिता के ऐसे कुछ हो जाते हैं जन्म सूर्य आते हैं संतान में आते हैं पुत्र नहीं आते संतान में आते हैं जान श्रुति इसी स्थिति सएव श्रद्धा दे वही जान श्रुति है सएव जान श्रुति एवं श्रद्धा दे रहा माने श्रद्धा पुरुषरम एवं ब्राह्मणादिव्यो देयम अश्य स श्रद्धा देय बहुवीर समाज है श्रद्धा पूर्वक ही ब्राह्मणादि को देने की जिनका स्वभाव बना हुआ है अश्रद्धा पूर्वक नहीं देते रोज रोज आता है परेशान कर दिया ऐसा बोलते हैं लोग किंतु देना है कुछ आया है तो देना है इसलिए तैतृपनिषद आता है ना श्रद्धया अधेयम अश्रद्धया अधेयम कोई जब इसमें अश्रद्धया अधेयम कहा ले तो जाएगा ही अश्रद्धा से दो चाहे श्रद्धा से तुम्हारी संपत्ति तो जाएगी कम से कम श्रद्धा से दो अश्रद्धा तो श्रद्धा देय का अर्थ करते हैं श्रद्धा पुरस्म एवं ब्राह्मणादि देयम असभवरी समाज है श्रद्धा पूर्वक ही ब्राह्मण आदि को जरूरतमंदों को देने का जिसका स्वभाव बन गया उस व्यक्ति को श्रद्धा दे कहा वही ज्ञान सूर्य का विशेषण है श्रद्धा देगा इसी प्रकार बहुदायी प्रभुतम दातुम शीलम भी प्रत्यय लगा हुआ है बहु माने प्रभुत बहुत देने का स्वभाव बन गया थोड़ा मांगे तो ज्यादा देते थे बहुदायी माने प्रभुतम दातुम शीलम अशक्ति बहुदायी बहुत देने का जिसका स्वभाव बन गया उसको बहुदायी कहते हैं दादातु है बहु उपपद है लेनी प्रत्यय हुआ आतो चुनित से युग का आगम गया दादा तो युग बन गया बहुत आगे और बहुपाक्यो पद धातु से ढेत करके बन जाएगा पाक्य गृहण और ऋण हलंत धातु है पकाने योग्य को पाक्य बोला जाएगा उसके बाद बहु के साथ में समास होगा बहुपाक्यो यश ऐसे हो जाएगा बह बह बह पाक्य यश्य माने बहु पक्तव्यम अहनी अहनी गृह ऐसा होगा प्रतिदिन बहुत पड़ता है जिसके घर में एक दिन में कोई भंडारा एक दिन हुआ नहीं रोज एक बहुपाठ्य का था बहु कर्तव्यम बहुत सारे अन्य कर्तव्य है अहानी अहानी प्रतिदिन गृह जिसके घर में ऐसा होता हो असौ बहुपाठ्य उस बहुपाठ्य बहुबरी समाज से बहुपाक्य ऐसे राजा थे माने जो बहु ऐसे गृह अन्नम पच्यते करता भोजनार्थी के लिए इसके घर में बहुत सारे अन्न पकते हैं इसलिए वो बहुपाच्य है क्या है बहुपाच्य एवं गुण संपन्नो असौ जान श्रुति पौत्रायण इस गुणों से संपन्न है वो तीन विशेषण लगा हुआ है जिसमें श्रद्धा देय है बहुदायी है बहुपाक्य है ऐसा ऐसा जो एवं गुण संपन्न हो असौ जान श्रुति वो जान श्रुति राजा जिसकी कहानी चल रही है पौत्रायण मैंने जनश्रुत के पुत्र का पौत्र है इसलिए पौत्रायण बोला है उनको विशिष्ट देश काले च कसमिश्चित आशी किसी विशेष देश में विशेष काल में ऐसे राजा हुए आशा का आशित कर दिया आशा मैंने बभुआ और धातु भू धातु समान ऐसे किसी देश विशेष में किसी काल विशेष में ऐसे राजा हुए ऐसे धर्मात्मा राजा हुए सह सर्वतः सर्वासु दीक्षु ग्रामेशु नगरेशु च आवस्थान यत्य ये सुति आवश्यकान तान मापयान चक्रे कारितवान इत्यर्थ करना स वो राजा जो जान सूर्य राजा उन्होंने सर्वतम है सर्वाश दिक्षु सारे दिशाओं में ठीक है तो सभी दिशाओं में क्या किया ग्रामेशु नगरेशु गांव में नगर में सर्वत्र यहां वहां जहां जहां जहां कहीं ग्रामेशु नगरेशु सर गांव में भी नगरों में भी आवसथान आवसथान द्वितीयांत है तो उसका अर्थ करते हैं कि यत्य बसंती हाँ। आकर के बैठते हैं जिसमें यत्य मान आन आगे ई आगे लेप होकर के टुक आगे यत्य बना हुआ है आकर के बैठे हैं बसंती सु जिसमें आकर के बैठते हैं उसको आवश्यक होते हैं आवश्यक आवश्यकता ताम उन आवश्यकों को महापयान चक्रे बने कार्य बना मान माने रात में रिज करके बनाया है ऐसे माने धर्मशालाएं बनाई आकर के यहां रहेंगे ऐसे विचार से धर्मशालाएं बनाई सर्वतः एवं सर्वतः एवं आगत्य होगा वहां आगत्य मे मम अन्नम तेसु आवश्यकु बसंतो अत्यंत अक्षंती भक्षंती पता उनका अभिप्राय था धर्मशाला बनाने का कि सभी दिशाओं से आकर के मेरा ही अन्न भक्षण करेंगे वहां उस धर्मशाला में तेसु आवश्यक उस धर्मशाला में बैठ करके मेरा ही अन्न भोजन करेंगे भोजन करेंगे ये उनका अभिप्राय था इसलिए धर्मशाला बनाई अन्न खिलाने के लिए टीका में कहते हैं जनश्रुत पुत्रो यह तस् पौत्र पौत्रायण जनश्रुत का जो पुत्र होगा उसका भी पौत्र को पौत्रायण बोला गया ये जानश्रुति वो है जनस्कृत के पुत्र का पौत्र है जनस्कृत राजा का जो पुत्र होगा उसका जो पौत्र होगा वो ये होते हैं कौन जानस्कृत सच प्रकृतो जानश्रुति तो जनश्रुति का पुत्र का पौत्र कौन है जो प्रकरण चल रहा है इसका जानश्रुति है वो जानश्रुति है जानश्रुति राजा ने कहा इसलिए कहा पुत्र से पौत्र पौत्रायण सएव इत्यादि राज्य में कहा था श्रद्धया देय से अल्प अल्पत्व संग्राम बाहर थे श्रद्धा से तो देता होगा राजा थोड़ा देता होगा अल्पम तो संख्या हो सकती है उसकी निवारण करते हैं क्या दे तो बहुत आई दूसरा विश्लेषण लगा दिया नहीं नहीं अल्प नहीं देते थे श्रद्धापूर्वक देते भी थे तो खूब देते थे ऐसे राजा थे श्रद्धया देय से अल्पत्व संग्राम श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ पदार्थ में अल्पता हो थोड़ा हो उसके संग्राम को निवारण करते हैं बहुत आई विशेषण लगा करके बहुत देते थे वो ऐसे थे बहुपाक से फलम अहम बहुत पकते थे उनके घर में अन्न इसलिए बहुपाक के बोला उसका फल बताते हैं <coughs> फल बता दिया क्या भोजन आतिथ्यो बहु अश्य गृह अन्न बचते भोजन भोजन आते के लिए इसके घर में बहुत सारे अन्न पकते हैं इसलिए बहुपाक्य कहा उसने उक्त राज्यो इस प्रकार से विशेषण लगाए गए जो राजा हैं जान श्रुति राजा जिसके श्रद्धा देयो बहुदायी बहुपाक्य विशेषण लगाए जिस राजा का उक्त राज्यों वर्तमान अभाव वर्तमान में भय ना वर्तमान अभाव असत्वम आशंका <clears throat> कहते हैं वो राजा का वर्तमान का अभाव होने से असत्व है हाई नहीं वो राजा शंका करके बोलते हैं कि उत्तम इत्यादि का <clears throat> क्या कहा विशिष्ट देश विशिष्ट काल कोई किसी देश विशेष में रहे वो राजा बोलना चाहते हैं किसी देश में थे वर्तमान में तो नहीं है कोई शंका कर सके तो कहते हैं कि विशिष्ट जैसे विशिष्ट काले चश्मिश्चित आशा होगा ऐसे राजा कोई थे ये कहा स्वसमीपम प्राप्तेभ्य एवं अर्थिव्यो असौ अन्नम है कहते हैं नहीं राजा अन्न तो देते हैं किंतु अपने पास जो पहुंचते हैं उन्हीं को देते होंगे एक शंका आ सकती है अपने घर में जो आए उन्हीं को देते होंगे सबसे बात स्वसमीपम प्राप्त है अपने समीप प्राप्त करने वालों के लिए एवं अर्थिव्य ऐसे अर्थियों के लिए अशोक अन्नम ददा के ऐसे राजा अन्न देता है शंका को निवारण करते हैं सह वो राजा ने क्या काम किया सर्वतः सर्वाधिक्षु ग्रामीणु नगरेशु च मापयान चक्र ऐसा आया सारे जगहों में धर्मशाला बनाई उन्होंने क्यों बनाया कहते सर्वतः एवं अच्छी सभी जगह से आकर के मेरा ही अन्न खाएंगे इसलिए यही अपने पास ही नहीं अन्यत्र भी बना दिया जगह जगह ये स्थिति एक अच्छा आगे मंत्र है अतः हंसा निशायाम अतिपेतु तद्व हंसो हंसम अव्युवाद ई भल्लाक्ष भल्लाक्ष पौत्रायण से समम दिवा ज्योतिरात ज्योतिराततम् तत्वा प्रदाक्षी अतः हंसा दिशायाम् अतिपेतु तद्दैवम् हंसो हंसम् समविवादः ओहो अयि भल्लाक्षी भल्लाक्ष भल्लाक्ष ओहो अयि भल्लाक्ष भल्लाक्ष ज्ञानश्रुते से समं दिवा ज्योतिराततम् तन्मा प्रसाक्षिः तत्वा मां प्रदाक्षिरिति अनंतर की बात है आगे की कहानी ऐसे राजा थे एक राजा थे एक दिन ऐसी घटना घटी उठ गया हाँ हंसा निशायाम अतिवेतो हंस उनके जो अन्नदान आदि के प्रभाव से देवता है या ऋषि हैं या हंस रूप में उनके ऊपर में वो छत में सोए हुए होते हैं बैठे हुए होते रात में गर्मी के दिन ऐसी कहानी है तो हंस ऊपर से उड़ रहे थे हंस के झुंड आया ऊपर से माने ऋषि हैं या देवता है प्रसन्न होकर के अन्नदान आदि के प्रभाव से प्रसन्न है चाहे ऋषि हैं या देवता लोग हैं अंश रूप में आए ऊपर अधिकृत ऊपर में उड़, उड़ रहे थे सब उड़े तत् प्रसिद्ध है <clears throat> तस्मिन काले तत् माने तस्मिन काले उस काल में एवं प्रसिद्ध है एवं हंसो हंसम अभिभाग एक हंस ने दूसरे हंस को कहा हमारे पीछे वाले हंस ने आगे वाले चलने हंस को कहा क्या कहा हो हो अई बल अई मन अरे हो हो भो भो संबोधन ये है नहीं भो भो माने शब्द संबोधन होता है भो भो भो बोलना और हे हे करना माने जो जो थोड़ा तिरस्कृत हो जाता है अरे अरे बोलते हैं जिसको ऐसा ओ हो अय भल्लाक्ष अरे भल्लाक्ष भल्लाक्ष भल्लाक्ष माने भद्राक्ष होता है सुंदर आंख वाले सुंदर ये माने व्यंग में साहित्य की भाषा है व्यंग किया माने तुझे पता नहीं है क्या होने वाला है कहना चाहता है पीछे वाला में आगे वाले को माने साहित्य की भाषा है माने साहित्य में बोला जो जाता है अर्थ उल्टा निकलता है जैसे हमारे प्रेमी हमारे पास आ रहे हो दरवाजे में हमने देखा हम कहते हैं जाओ जाओ ज्यादा प्रेमी होगा कहते जाओ जाओ ऐसे बोलेंगे वो क्या समझेगा आओ आओ समझेगा आ जाता है वो हमारे पास हमारा भी तात्पर्य वही है हाँ। हमारे भी तात्पर्य वही है ऐसी तो मैंने साहित्य में ऐसे व्यंग किया जाता है शब्द उल्टा दिखता है अर्थ उल्टा आ जाता है साहित्य की भाषा है <clears throat> तो बल्लाक्ष बल्लाक्ष माने भद्राक्ष भद्राक्ष अर्थ आना चाहिए माने अंधा अंधा कहना चाहता है वो ये तात्पर्य है ये संबोधन है हो हो अई अई अई बल्लाक्ष बल्लाक्ष संबोधन है जान श्रुते पौत्र ऐसे जो जन श्रुत के पुत्र का पौत्र है जान श्रुति उनका समम दिवा ज्योति दिवलोक के समान जो ज्योति फैली हुई है बीतता आततम फैली हुई ज्योति है अथवा दिन के समान दो अर्थ करेंगे भाष्यकार दिवलोक के समान अथवा दिन के समान दिवा शब्द का अर्थ दिवलोक दिव तृतीयांत दिव दिव शब्द का दिवा बनना है अथवा अव्यय दिवा दिन हो जाएगा और दिव शब्द का तृतीयांत दिवलोक हो जाएगा दिव शब्द का तृतीयांत दिवा होगा तो दिवलोक के समान ज्योति दोनों अर्थ आएगा समम दिवा ज्योति आगतम दिवलोक के समान अथवा दिन के समान ज्योति फैली हुई है जैसे दिन में सूर्य की ज्योति फैली हुई होती है वैसे प्रकाश उनका फैला हुआ है किनका ये जो जान सूर्य राजा का तन्मा प्रशांक्षी उसको मत छूना संबंध मत करना संज संज्ञ संपर्क मत करना उस ज्योति को ये कहा मां प्रशांक्षी लोग लगा माने लोट लगा के अर्थ में मांग के योग में लुंग लकार हो रखा है लुंग लकार मध्य पुरुष एक वचन है उस ज्योति को मत सुना क्यों कहते तत्वा मां प्रधाक्षी थी तत् माने ज्योति वो ज्योति त्वा माने तुझको तुम्हें मां प्रधाक्षी तुम्हें न जलाए कहीं दह धातु से लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन यहां पर विभक्ति का विपराम करके प्रथम पुरुष एक वचन समझा क्योंकि ज्योति वहां प्रथम पुरुष है वो ज्योति महाप्रदाक्षित ऐसा अर्थ होगा या प्रदाक्षी मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है श्रुति ने किंतु प्रथम पुरुष करना पड़ेगा इसको पहले वाला ठीक है मध्यम पुरुष हम्म। उसको वत्स हो तो ये तो ठीक है पहले वाला महाप्रशांक्षी वाला ठीक है महाप्रदाक्षी वाला जो है उसको महाप्रदाक्षित ऐसा अर्थ करना पड़ेगा क्योंकि ज्योति प्रथम पुरुष है कर्ता प्रथम पुरुष हो एक समझना एक टीका है कहा विशिष्ट अन्नदान फलम दर्शन है जो विशिष्ट अन्नदान उनका जो अन्नदान होता था माने सारे जगहों में उन्होंने धर्मशाला खोली अन्नदान के लिए बहुपाकी थे बहुदायी थे ऐसे राजा थे उनका फल बताना चाहते हैं विशिष्ट अन्नदान फलम दर्शक आरभ थे उनके राजा का जो विशिष्ट अन्नदान का जो फल है उसको दिखाने के लिए आरंभ कर दिए ये कहना कहा तत्र एवं सती <clears throat> ऐसी स्थिति होने पर पूर्व की कहानी जोड़ा ऐसे एक राजा थे करके ऐसी राजनी इस प्रकार के राजा होने पर तत्र एवं सती राजनी ऐसे राजा के होने पर बड़े नदान काले राजा थे वो राजा तस्मिन धर्म काले धर्म काले हर्मस्थले हर्मस्थलस्थे हाँ ऐसे राजा में क्या हुआ धर्म काल माने गर्मी के दिन आए कृष्ण ऋतु है धर्म काल उसमें हर्मस्थलस्थे माने छत के ऊपर थे राजा तलस्ते हाँ, हंसा निशायाम रात्रो अतिकेतु का हंस रात्रि में हंस के झुंड माने ऊपर छत के ऊपर में उड़े ऋषयो देवता वा चाहे वो हंस रूप में तो आए चाहे ऋषि हैं चाहे देवता लोग हैं वो ऋषयो देवता वा राज्यो अन्नदान गुण पोषिता राजा के अन्नदान के गुणों से संपुष्ट हुए ऋषि है या देवता लोग हैं वो हंस के रूप में आए वो राजा के ऊपर उड़ रहे हो ऋषयो देवता व राज्यों अन्नदान गुण स्तोषिता संतो ऋषि हो चाहे देवता हो राजा के अन्नदान रूपी जो गुण है उस गुण से संतुष्ट हुए होते हुए हंस रूपा भूत हंस स्वरूप धारण करके राज्यों दर्शनम गोचरे अतिकेतु पति बनता राज्य के विषय दर्शन के विषय बन करके राजा देख रहे हैं ऐसा राजा के दर्शन के चक्षु के विषय होते हुए अतिकेतु बने पति बनता उड़ने लगे उड़े हंस उड़े ऊपर तत् तस्मिन काल है आगे तत् शब्द है उसका तस्मिन काल है तो अतिकेतु काल तद दैव में जो तत् शब्द है उसका अर्थ तस्मिन काल है उस काल में जो उड़ रहे थे हमसा उस काल में तेसाम पतदाम हमसा नाम जो उड़ रहे थे जो हमस लोग उसमें से एक पृष्ठतः पतन जो पीछे पीछे चल रहा था उड़ रहा था सबसे पीछे चल रहा था हमसम अग्रता पतंतम हमसम विवाद आगे चलने वाले हमस को कहा अभी उगादा बद धातु लिट लगा है हाँ। आगे चलने अंश अंश से पीछे चलने वाले ने कहा सबसे पीछे जो था उसने आगे चलने वाले से कहा क्या कहा हो हो माने भो भो अर्थ होगा आई माने अई थी ये संबोधन का अर्थ क्या भो भो इति संबोध्य हो हो का अर्थ भो भो भो भो इति संबोध्य ऐसा संबोधन करके फल्लाक्ष भल्लाक्ष इति आदरम दर्शना माने भद्राक्ष भद्राक्ष शब्द से आदर दिखता है अर्थ यह आदर नहीं है ये साहित्य की भाषा है शब्द में अच्छा लगता है भल्लाक्ष माने भद्राक्ष अच्छा आंख वाले सुंदर आंख वाले सुंदर आंख वाले बोला जा रहा है किंतु अर्थ निकलेगा तो अंधा व्यंग करेगा कि वो परेशान था ये आगे वालों में ब्रह्म विद्या का अभिमान था ब्रह्म विद्या वालों को कुछ नहीं होता करके उसका अभिमान था इसलिए उड़ रहा था राजा के ऊपर जा रहा था वो पीछे वाला इस बात को स्वीकार नहीं करता था किसी वाला मानता गलत कर रहा है ये कहने के लिए बल्लाक्ष बल्लाक्ष हम आदरम मैं आदर दिखाते भो भो बल्लाक्ष आई बल्लाक्ष बल्लाक्ष आदर दिखाता हुआ बोला आदर दिखाता हुआ क्यों होता बल्लाक्ष यथा पश्य पश्य की आश्चर्य दो बार बोला क्यों जैसे पश्य पश्य आश्चर्य में बोलते हैं जल्दीबाजी में दो दो बार बोला जाता है आदर देने के लिए भी दो दो बार बोला जाता है ऐसी स्थिति आदर के लिए दो बार बोला भल्लाक से एक ही बार पर्याप्त था हो हो भी दो बार बोला भल्लाक से भी दो बार बोला आदर देता है ये कहा जैसे पश्य पश्य आश्चर्य बोला जाता है देखो देखो आश्चर्य एक ही बार देखो आश्चर्य से काम चलता किंतु शीघ्र आदर देने के लिए दो बार बोला जाता है आइए आइए बोलते हैं ना एक ही बार आइए से काम चल जाता है तो दो बार क्यों आदर देने के लिए आइए आइए जाओ जाओ दो दो बार बोला जाता है आदर देने के लिए ऐसा होता है तो ठीक इस प्रकार है भल्लाक्ष भल्लाक्ष बोला गया तद्वत ऐसा कहा भल्लाक्ष की मंद दृष्टित्व ना पीछे वालों ने जो भल्लाक्ष शब्द का प्रयोग किया है मंद दृष्टि वाला है तो राजा के प्रभाव को जानता नहीं है तो हाँ। उनके जो अनुदान से बनी हुई जो ज्योति है फैली हुई ज्योति देवलोक के समान अथवा दीन के समान फैली चारों तरफ फैली हुई है उसको मत सुना तू जल जाएगा कहने का तात्पर्य यह है ये बल्लाभ से शब्द का ये कहना चाहते हैं मंद दृष्टि दिखा सूचित करता है बल्लाभ शब्द अथवा दूसरी बात यह है वो आगे वाले हमसे से, परेशान था पीछे वाला हमसे इस परिस्थिति अथवा सम्यक ब्रह्म दर्शनाभिमान वत्वात जो आगे चलने वाला वो ब्रह्म ज्ञान तो नहीं था ब्रह्म ज्ञान का अभिमान था उसमें मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं ऐसा सम्यक ब्रह्म दर्शन अभिमान बदवा सम्यक ब्रह्म दर्शन के अभिमान होने के कारण आगे वाला जो था तस्य असकृत उपादन था वो जो आगे वालों ने पीछे वालों को बहुत तिरस्कार किया बार बार तिरस्कार किया है तो गुर कहे कुछ नहीं जानता है मैं ब्रह्मविद्ता हूं हाँ। ऐसा बार बार बोलता रहा वो पीछे वाले को जब भी ऐसा डांटता था उसको हम्म। अथवा सम्यक ब्रह्म दर्शनाभिमान जो आगे वाला हम समय ब्रह्म विद्या का अभिमान था अभिमान को तो बैठा था हाँ। तस् असंकृत उपालब्ध इसलिए वो पीछे पृष्ठगामी हम सबको बार बार उसने तिरस्कार किया वो लाहना दी थी तेरा पीड्यमान इसलिए पीछे वाला उससे दुखित था बार बार ही परेशान कर रहा है पीड्यमान दुखी दुखी होता हुआ अमर से तो या सहन नहीं कर पा रहा है वो पीछे वाला इसलिए तब सूचय थी भल्लाक्ष ये वही सूचित करता है भल्लाक्ष पर ब्रह्मवेत्ता बनता है अभी तू जलेगा वहां पहुंचेगा तो उसको मत सुना ये बोलना चाह रहा है उस युवती को मत सुना ऐसा कहने के लिए बल्लाभ से कहा गया तो वो क्या बोलता है पीछे वाला कहते हैं जान श्रुदे पौत्रायण से जो जन जनश्रुत के पुत्र का पौत्र है जानश्रुति राजा पौत्रायण है उनका समम मान तुल्यम दिवा द्यूलोक के समान किसके समान ज्योति है द्यूलोक के समान समम मन तुल्यम दिवा दिवलो के लिए ज्योति ही प्रभास्वर ज्योति अर्थ प्रभास्वर है वो प्रकृत भास्वरम ज्योति भास्वरम अन्नदान आदि जनित प्रभाव प्रभाव प्रभाव अन्नदान आदि से उत्पन्न प्रभाव वाली ज्योति है वो ज्योति उनके पास ज्योति आतम मान व्याप्तम फैली हुई ज्योति है दिवलो का स्त्रिक माने यहां से स्वर्ग तक उसकी ज्योति छो रही है फैली हुई है ऐसी ज्योति है अन्नदान आदि के प्रभाव से उसकी ऐसी ज्योति है अथवा उसी का अर्थ वही ज्योति का दीवार माने अब यहां अव्यय लेकर के अर्थ करते हैं दीवा का दीवा समान ज्योति है ना पहले तो दीप शब्द का तृतीयांत से अर्थ कर दिया दिवलोक के समान अर्थ कर दिया दीप शब्द का तृतीयांत दिवा बनता है अब की बार अव्यय दिवा लेकर के अर्थ करते हैं अथवा दिवा अन्नावा अथवा दिन के समान जैसे दिन में प्रकाश है सर्वत्र फैली हुई थी सूर्य का प्रकाश दिन में दिवा अन्नावासम ज्योति ही अथवा दिन के समान जो ज्योति है इस जान से राजा का तन्मा प्रशांक्ष माने संज संगे धातु है हाँ, उस उसको मत छूना तुम हाँ उसके संबंध मत करना उस ज्योति के साथ तो तुम जल न जाएगा तो ये कहना चाहता है पीछे वाला तन्मा प्रशांक्षी माने सज्जनम शक्ति शक्ति संज धातु है संज संगे तो संजनम शक्ति माने संबंधम शक्ति का अर्थ संबंधम तेरह ज्योति साथ संबंधम से अर्थ है मात्र सांसिक उस ज्योति के साथ संबंध मत करना तो मैंने आगे ज्यादा मत जाना ज्योति फैली हुई उसकी ये कहा पीछे जाने ना क्या होगा उसके छूने से तो आया उस ज्योति के संबंध करने से क्या होगा तत्प्रसंग उस तत्व ज्योति उस ज्योति का जन से संबंध से तज्योति त्वा माने त्वाम माँ प्रदाक्षी माँ दहतु इत्यर्थ वो ज्योति तुम्हें मत जलाए माने माँ प्रदाक्षी का माह दहतु माने लोट को बाध करके लुम हुआ मांगे लुम मांगे ऊपर होने पर सभी लकार को बात करके आएगा आशा यहाँ पर लोट का है पहले दोनों में दोनों वाक्यों में लोट का है माँ प्रशांसी में लोट मध्य पुरुष एक बार माँ मत छुआ उसको और वो ज्योति मत जलाए तुमको नहीं तो माँ प्रदाक्षी का अर्थ मां दहतु दहतु प्रथम पुरुष एक वचन ये कहा पुरुष व्यक्ति है ना क्योंकि पुरुष को विपरीत कर देना मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष का प्रयोग कर देना प्रदाक्षी के स्थान में प्रदाक्षी का अर्थ करना ये कहा पुरुष व्यक्ति है ना मां प्रदाक्षी देती ऐसा अर्थ करना ये कहा टीका कहते हैं वाक्यार्थम दर्शे इसका वाक्य का अर्थ दिखाते हैं कौन है उड़ने वाले हम सब कहते हैं ऋषयो देवतावार राज्यों अन्नदान गुण स्तोषिता संतो हम सब पापोत्वा इत्यादि का <clears throat> ऋषि हो चाहे देवता लोग हैं राजा के अन्नदान के गुणों से तुष्ट हुए हम स्वरूप धारण करके उड़ रहे थे पर ये अर्थ है उसका संबोधन अभ्यास से विषय संबोधन का अभ्यास किया दो बार बोला दो बार बोला भल्लाक्ष भल्लाक्ष बोला इसका तात्पर्य आदरम दर्शन आदर दिखाने के लिए होता है आदर में दो बार आइए आइए बोला जाता है इसी प्रकार यहां भी आदर दिखाने के लिए कहा मैंने आदर नहीं निरादर में है प्रभु तो साहित्य की भाषा है तदेव दृष्टांत न स्पष्ट है कि उसी को दृष्टान्त आदर में कैसे दो बार बोला जाता है जैसे यथा पश्य पश्य आश्चर्य बोला जाता है देखो देखो आश्चर्य बोला जाता है एक ही बार देखो बोलने से काम चलता है देखो देखो बोलते हैं आदर के लिए ऐसे दो बार बोला जाता है इसलिए बल्लाक्ष बल्लाक्ष दो बार बोल दिया भल्लाक्ष शब्दार्थ भल्लाक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है करें भल्लाक्ष यदि मंद तुम सुजन आश इत्यादि बोलते हैं भल्लाक्ष शब्द का अर्थ होता है मंद दृष्टि ये कहना चाहते हैं भल्लाक्ष शब्द भद्राक्ष विषय भल्लाक्ष शब्द जो है असली में भद्र अक्ष अक्षी यश भद्राक्ष ऐसा अर्थ है उसको बिगड़ करके अभ्रम शब्द करके भल्लाक्ष बना और सुंदर आंख है जिसके उसको भद्राक्ष बोलना था उसके काम में बल्लाक्ष बोला अर्थ यही होता है भद्राक्ष विषय भद्र अक्षीय भद्राक्ष ऐसा होता है बहुगुरी समाज करके तो भद्राक्ष विषय करता है सम माने भल्लाक्ष से बोलते मतलब भद्राक्ष सुंदर आंख का विषय करता हुआ विरुद्ध लक्षण है विरुद्ध लक्षण है या साहित्य की भाषा है मैंने से क्या हुआ मंद दृष्टि सुनता मंदिर दृष्टि का सूचक बना हुआ है अच्छा आंख नहीं दे रहा ज्योति सामने पहुंच रहा है तो वहां जलने वाला है ये बोलने वाले हैं क्यों वो तो अनुदान से फैली हुई ज्योति उसकी ज्योति तीनों लोगों में व्याप्त है उड़ रहा आगे ज्योति के साथ संबंध होने वाला है ज्योति के साथ संबंध होता है जलेगा तो महाप्रलाप से होकर इतने रूपये न जला है ये मंद दृष्टि को सूचित करता है भल्लाक्ष शब्द किसके विरुद्ध लक्षण बोला गया कुछ अर्थ निकलना कुछ ये विरुद्ध लक्षण साहित्य में विरुद्ध लक्षण का प्रयोग होता है व्यंग बोल व्यंग होता है व्यंग का प्रयोग साहित्य में होता है भल्लाक्ष शब्द से विषयांतर में अथवा भल्लाक्ष शब्द का दूसरा अर्थ वो परेशान था कुछ आगे वाला अपना ब्रह्म विद्या के अभिमान के कारण उसको उलाहना देता रहता था तो मोर का कुछ जानता नहीं है बार बार ऐसा कर रहा तो इसने भी बहु का समझ करके आज उसके उसका बदला लिया ये बोलना चाहता है भल्लाभ से विषयांतर अथवा अथवा सम्यक ब्रह्म दर्शनाभिमान वत्वाद आगे वाला जो है मैं सम्यक ब्रह्म ज्ञाता हूं ऐसा मानता था ब्रह्म ज्ञानी हूं अभिमान था केवल तस्य असकृत उपालब्ध कहा उस पृष्ठगामी वंश को पीछे चलने वाले को बार बार उसे बुलाना की थी तो मूर्ख है कुछ नहीं किया जिंदगी मैं ब्रह्म लगता हूं ऐसे बोलता था तेरह विद्यमान उस बातों से तो पीड़ित था वो पीड़ित होता हुआ वो पीछे गांधी से अमर्षित सहन नहीं कर पाया उस बातों को बार बार पीड़ित था इसलिए तब थी बल्लाक्ष उसको सूचित करता है <clears throat> बल्लाक्ष शब्द उसको सूचित करता है ठीक है तस्य पृष्ठगामिनो हंसस्य <clears throat> तस्य पद है ना तस्य असकृत उपालब्ध तस्य माने पृष्ठगामिनो हंसस्य जो पीछे चलने वाला हंस का महात्मा नातिक्रमण की जानवर वही ऐसा जानता था हंसा महात्मा को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए राजा महात्मा है उसको अतिक्रमण नहीं करना चाहिए ऐसे जानता था वो इति इति लगने से उसके बाद के समाप्त हो जाता आगे जुड़ेगा उसका विजानता इति अमरसित अमर्षितया वहां के आगे अंग होगा इसका इस प्रकार सहन न होने से महात्मा उल्लंघन नहीं करना चाहिए इति अमर्षित बीच में आगे वाले की बात किया है बीच में अमरसितया या पीड्यमान महात्मा कर्मणी ऐसा समझ रहा पीछे वाला हमेशा महात्मा को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए समझ रहा है उससे पीड़ित होता हुआ आगे वाला अतिक्रमण कर रहा है आगे वाला पीड़ित होता हुआ सन न तुम धर्मम जानासी इत्यादि बोलना चाहता है पीछे वाला तुम धर्म को नहीं जानते हो ज्ञानाभिमान तो बहसी तुम ज्ञान का अभिमान तो धोते हो उपालब्ध तद वल्लाक्ष ऐसे उपालम्ब दिया पीछे वाले कहते क्या उपालम्ब क्यों था कहते हैं सम्यक दर्शनाभिमान दर्शनाभिमानशालित्व तो अग्रगामी जो अंश है मैं ब्रह्मयोक्ता हूं करके अभिमान है उसके पास संगत दर्शन दिशा अभिशालित न अग्रगामी अंशो ज्ञान श्रुति अतिचिक मिश्र हाँ, वो अधिचिक्र विषु माने आगेगामी अंश ज्ञान श्रुति को अतिक्रमण करने के इच्छुक है इच्छुक है इसलिए अमर्षित है उसको सहन नहीं हो रहा पीछे वाले को क्यों पीछे वाला हंस कैसा है कि महात्मा नाथ कबड़ी तो विजानता ऐसे विशेष समझता है महात्मा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए ऐसे समझ रहा है पीछे वाला समझदार है वो से है पीट्यमान आसन दुखी होता हुआ नत्वम धर्म आगे वाले के लिए कहता हुआ नत्वम धर्म हम जान आशी तुम धर्म के जानते ना तो धर्म क्या है महात्मा अतिक्रमण करने योग्य नहीं होता यह धर्म है किंतु तुम जानते रहो धर्म को ज्ञानाभिमान तो बहसी ज्ञान का अभिमान में ब्रह्मवेत्ता हूं करके ज्ञान का अभिमान तो ढो रहे हो तुम यदि उपालम था ऐसे उपालम दिया तो भल्लाक्ष शब्द के द्वारा उसने किसने पीछे वाले तब भल्लाक्ष यदि उपालम स्वरूपम सूचित भल्लाक्ष शब्द उपालम्ब माने उलाहना स्वरूप सूचित करता है ऐसा कहा पृष्ठगामी हंसो निंदापूर्वकम अग्रगामिणम हंसम संबोध्य किम उजीवान पृष्ठगामी अंश निंदापूर्वक ये निंद तो भल्लाक्ष शब्द निंदा है वो निंदापूर्वक पूर्वकम अग्रगामीण अंशम संबोध्य अग्रगामी अंश को भल्लाक्ष भल्लाक्ष करके निंदापूर्वक संबोधन करके पीछे गामी अंशों ने किम उचिवान क्या कहा बद धातु से पशु प्रत्यय करके उचिवान बना दिया पशु सूत्र है छंद प्रयोग होता है तो लीट लकार के सामने आया है ऐसे तो लीटा कानजवा लीट के सामने कान प्रत्यय होता है पशुष्ट पशु भी होता है वैदिक प्रयोग होता है या पशु वाला है लीट का आदरण हो गया बच बच बन गया था उसके बाद पूर्व खंड वाले को हो गया बची सो भी लिखित व्यास से शाम से संप्रसारण हो गया पूर्व खंड को तो दोनों के संप्रसारण पहले संप्रसारण हो गया बची सो भी कित तो कित प्रत्यय है कुछ सब उच्च बन गया उच्च बनने के बाद में ऊ रह गया ऊ बन गया समुद्र हो गया कोशु ईट का आगम होकर के उची बांध बना हुआ सू का रूप है क्या कहा पृष्ठगामी अंश यह निंदा पूर्वक अग्रगामी अंश को संबोधन करके क्या कहा या अपेक्षा हो गई जान की इच्छा हो गई तो कहते हैं जान श्रुते यही कहा देखो जान श्रुते पौत्रायण से समम तुल्यम दिवा दिवलोक ज्योति प्रभास परम अन्नदानादि जनितम जनित प्रभाव प्रभावजम आततम व्याप्तम दिवलोक पृष्ठ ऐसी ज्योति को तुम मत सुना ये बोला जान श्रुति राजा के ज्योति ऐसे दिवलोक के समान ज्योति है वो ज्योति फैली हुई ज्योति है द्विलोक तक पहुंची हुई ज्योति है ऐसी अन्नदान के प्रभाव से उत्पन्न ज्योति व्याप्त ज्योति है द्विलोक तक छू रही है उस ज्योति को मत छूना मां प्रशंसी ऐसा कहा मत छूना जल जाओगे तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान का अभिमान एक तरफ रह जाएगा ऐसा बोल रहा है पीछे वाला केवल अभिमानी हो जाता उसने आगे वाले में भ्रव्यता हूं मेरे कुछ नहीं होता वास्तव में ब्रव्यता होता तो कुछ नहीं होता ठीक है <laughs> बनावटी ब्रव्यता है वो चक्कर ये है ऐसा <clears throat> आगे कहते हैं महाप्रदाक्षी पाठे महाप्रदाक्षी जो द्वितीय मध्य पुरुष एक वचन पाठ है वो ज्योति पर तुम्हें न जलाए तो वहां ज्योति क्रिया है और प्रदाक्षी मध्य पुरुष ज्योति प्रथम पुरुष कैसा करना पाठ तो ऐसे ही महाप्रदाक्षी कर देते हैं महाप्रदाक्षी पाठे कथम महाप्रदाक्षी उच्यते ये शंका आ गई मूल में है महाप्रधाक्षी मध्यम पुरुष है और आपने प्रथम पुरुष कैसे कर दिया महाप्रधाक्षी भाष्यकार के ऊपर में आक्षेप कर रहा था प्रधाक्षित कैसे कर दिया आपने प्रथम पुरुष कैसे कर दिया तब कहते हैं पुरुष व्यत्यय ना पुरुष का विपरीत कर दिया गया व्यत्यय बहुलम वेद के लिए सूत्र है बहुलता से व्यत्यय हो जाता है विपरीत हो जाता है वेद व्यत्यय बहुलम ऐसे सूत्र है पुरुष का व्यत्यय कर दिया मध्य पुरुष का स्थान में प्रथम पुरुष का व्यत्यय हुआ है माने छंद ऐसा हुआ है प्रदाक्षित होना था प्रदाक्षी कर दिया किंतु उसको समझना हमें पड़ेगा प्रथम पुरुष है करके समझना पड़ेगा एक मध्यम पुरुषम प्रथम पुरुषम कृत्वा व्याख्यानम इत्यर्थ मध्यम पुरुष को प्रथम पुरुष करके व्याख्या करनी चाहिए ये अर्थ आया एक <coughs> बस समय हो गया नहीं रहते ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमुषो बलन्द्रियाणि ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणस्त्वनिराकरणमेस्तु पदा